उनके परवरदिगार के पास उनका इनाम वो सदाबहार जन्नतें हैं जिनके नीचे से नहरें बहती हैं वहां वो हमेशा हमेशा रहेंगे अल्लाह उनसे खुश होगा और वो उससे खुश होंगे ये सब कुछ उसके लिए है जो अपने परवरदिगार का खौफ दिल में रखता हो